दृश्यमाननगरी तुल्यम् निजाम् तर्कतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर् तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन इनम हृदा मनीषा मनसा विकल्पो जो एतद विदु अमृतास्ते भवन्ते पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति कामाहुः परमां गतिम् काम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् धारणा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ कथम तरी अलिङ्गस्य दर्शनम उपपद्यते जिसकी कोई पहचान नहीं है चिन्ह नहीं है लक्षण नहीं है उसका दर्शन भला कैसे होता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये ऋषि ये मंत्र प्रवृत्त होता है एक एक मंत्र को एक एक ऋषि मानते हैं वो ये मंत्र नहीं ऋषि है और ऋषि नहीं ज्ञान है देखो आप देख लो एक मंत्र तो शब्द रूप होता है ना वाक्य रूप होता है मंत्र तो शब्दों के समूह वाक्य से बनता है बोले नहीं नहीं ये वाक्य समूह शब्द समूह अथवा वाक्य नहीं है ये क्या है ये ऋषि है स्वयं ऋषि है बोल रहा है हम वक्ता है अरे नहीं वक्ता भी नहीं है ये स्वयं ज्ञान ही है तो ये लौकिक वाक्य नहीं मंत्र है मंत्र नहीं ऋषि है ऋषि नहीं ज्ञान है स्वयं ज्ञान बोल रहा हूं वैदिक लोगों ने वेद का निरूपण जिस ढंग से किया है अगर वो निरूपण ही किसी की समझ में ठीक आ जाए कि वे वेद किसको कहते हैं तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए आत्मा परमात्मा ब्रह्म की बात छोड़ दो वेद कहते किसको हैं अगर ये बात ठीक समझ में आ जाए कि हमने किस वस्तु की संज्ञा आभेद रखी है तो आओ विचार करें अस्य आत्मन रूपम संदृशे न तिष्ठते इस परमात्म वस्तु का रूप दृष्टा के सम्मुख स्थित नहीं होता है माने ये दृष्टा का दृश्य नहीं होता है इसका अर्थ क्या है और इसका गंभीर अभिप्राय है अस्य रूपम तिष्ठते किंतु संदृशे न तिष्ठते इस परमात्मा का रूप तो है परंतु दृष्टा के सम्मुख नहीं है माने दृष्टा का दृश्य नहीं है क्या अर्थ हुआ ये स्वयं दृक् स्वरूप है द्वितीय व्याकरण की रीति से दूसरा अभिप्राय स्थल है संदृशे अंगिने न तिष्ठते एक अंगी होता है एक अंग होता है चतुर्थी विभक्ति जो संदृक शब्द के बाद चतुर्थी विभक्ति होने से के रूप बनाया ना संदृशे ये ए जो लगा हुआ है इसका अर्थ होता है के लिए के लिए वास्ते दृष्टा के लिए इसका रूप नहीं है माने जैसे बुद्धि दृष्टा के लिए है विचार करने को जैसे रूप है दृष्टा को देखने के लिए ऐसे इसका रूप किसी दृष्टा की तृप्ति के लिए नहीं है कोई दृष्टा अंगी हो और ये अंग हो सो नहीं है कोई दृष्टा शेषी हो और ये शेष है सो नहीं है जैसे मनुष्य के लिए सोना चांदी अन्न सारे जड़ पदार्थ चेतन के लिए होते हैं है? चेतन की तृप्ति के लिए चेतन की पुष्टि के लिए चेतन की रति के लिए चेतन की काम मूलक रति के लिए और चेतन की चेतन की रस मूलक तृप्ति के लिए और चेतन की लोभ मूलक संतुष्टि के लिए संसार के सारे पदार्थ होते हैं रति के लिए तृप्ति के लिए और संतुष्टि के लिए और यह स्वात्म रतिरव आत्म तृप्त मानवा आत्मनिव संतुष्ट सत्य कार्यम न विद्य थे ये आत्मतुष्ट है आत्मनिव संतुष्ट आत्म तृप्त आत्मरते है श्रुति में आता है आत्मरते है इतने से संतोष नहीं हुआ सुरती को बोली आत्म मिथुना जैसे पति पत्नी आपस में मैथुन करके परस्पर प्रसन्न होते हैं बोले उनको संसार में परस्पर मैथुन से जैसी रति होती है वैसी रति इसकी आत्मा में है जैसे संसार के लोग भोजन करके तृप्त होते हैं तो ये बिना भोजन के ही तृप्त है तो जैसे संसार के लोग धन प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं ये बिना धन के ही संतुष्ट है ये अपना धन स्वयं है ये अपना भोजन स्वयं है ये अपनी पत्नी स्वयं है इसका अर्थ ये होगा जब तो आत्म तृप्त मानवा तो संदृश्य जैसे आत्मा की सारी दूसरी चीजें अपने लिए होती हैं आत्मा के लिए होती हैं चैतन्य के लिए होती हैं वैसे इस आत्मा का रूप किसी दूसरे के लिए नहीं है न चंद्र से तिष्ठत रूप मत्स्य कोई दृष्टा इसको देखकर अपने में रति तृप्ति और संतोष का अनुभव करे Thank you. तृप्ति और संतोष का अनुभव करे इससे मजा लूटे ऐसा कोई ऐसा रूप इसका नहीं है ये खुद दृष्टा का रूप है ये किसी का भोग बन जाए ऐसा नहीं है ये किसी का भोग बन जाए ये किसी का भोग बन जाए ऐसा नहीं है ये किसी का दृश्य बन जाए ऐसा नहीं है ये किसी का कर्म बन जाए ऐसा नहीं है देखो सत्ता में भेद न होने से कर्म नहीं होगा और चित्ता में भेद नहीं होने से दृश्य नहीं होगा और आनंद में भेद नहीं होने से भोग्य नहीं होगा ये भोगता तो है परंतु इसके सिवाय कोई भोग्य ही नहीं है तो भोग किसका करे ये दृष्टा तो है परंतु इसके सिवाय कोई दृश्य ही नहीं है तो देखा है किसको का ये सत्ता तो है परंतु इसमें कोई परिणाम कोई परिवर्तन ही नहीं है तो इसका कर्म कौन होगा ये समृद्ध से सते चिते आनंदाय ये प्रयोजनीय किसी के लिए प्रयोजनीय इसका रूप नहीं है माने स्वसंवेद्य भी नहीं है दृष्टा के द्वारा दृश्य भी नहीं है स्वसंवेद्यता भी इसमें कल्पित है और साक्षी भाष्यता भी इसमें नहीं है बोले अच्छा भाई साक्षी बात न हो आओ इंद्रियों से ही देखें तो न चक्षुषा पश्यति कश्चन नम तो शब्दाभावा श्रोत्रेण न श्रूयते रूपाभाव चक्षुषा न दृश्यते स्पर्शाभाव त्वचा न स्पृश्यते रसाभावात रसनया न रस्यते ये रस रूप नहीं है इसलिए रसना से स्वाद नहीं लिया जाता ये गंध रूप नहीं है इसलिए नाक से नहीं सूंघा जाता ये रूप नहीं है इसलिए आंख से नहीं देखा जाता ये स्पर्श नहीं है इसलिए त्वचा से नहीं छूया जाता तो ये एक बार इसको पहचान लो और ये शब्द नहीं है इसलिए कान से नहीं सुना जाता ये विषय रूप में जो सृष्टि परिच्छिन्न परिच्छिन्न परिच्छिन्न दिखाई पड़ रही है अगर इसके रूप में पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक बात तो तुम्हें ये माननी पड़ेगी कि तुम इंद्रिय वाले हो और दूसरी ये मालूम पड़े, माननी पड़ेगी कि तुम इंद्रियों के द्वारा ज्ञाता हो और तीसरे ये मालूम पड़ेगी कि तुम परिच्छिन्न हो अपूर्ण हो तुम जब अपूर्ण हो करके हृदय के अंदर बैठोगे तब हृदय के द्वारा इंद्रियों को स्वीकार करके इसको ग्रहण करोगे और इसका दर्शन तो अपरिच्छिन्नता का दर्शन है तो तुम परिच्छिन्न को स्वीकार करके इस अपरिच्छिन्न का दर्शन नहीं कर सकते न ये स्वयं परिच्छिन्न है न परिच्छिन्न इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है और न परिच्छिन्न दृष्टि इसको ग्रहण कर सकता है अपने में अगर परिच्छिन्नता मालूम पड़ती हो तो उसको दृश्य बना दो तुम उससे न्यारे हो तो परिच्छिता जिसका दृश्य है वो दृष्टा परिच्छिन्न नहीं होगा परिच्छिन्न नहीं होगा तो अपरिच्छिन्न होगा अपरिच्छिन्न होगा तो ब्रह्म होगा अपरिच्छिन्न होना और ब्रह्म होना एक है क्योंकि परिच्छिन्नता जो है वो साक्षी भाव से है आनंद की परिच्छिन्नता भी साक्षी भाव से है और दृश्य की परिच्छिन्नता भी साक्षी भाव से है कर्म की परिच्छिन्नता भी साक्षी भाव से है तो इसलिए आत्मा न कर्म परिच्छेद है न ज्ञान परिच्छेद है और न भोग परिच्छेद है और संपूर्ण परिच्छेदों का निवारण कर देने के बाद जो शेष है उसका नाम आत्मा है उसका नाम मैं है हाँ, उसी को ब्रह्म कहते हैं ये आत्मा और ब्रह्म ये शब्द दो हैं, नाम दो हैं, वस्तु एक है न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्यो न चक्षुषा पश्यति कश्चन ये किसी भोक्ता के भोग के लिए नहीं है ये किसी इंद्रिय से ग्रहण करने के लिए नहीं है बोले फिर इसके ग्रहण में इसके ज्ञान में इसके दर्शन में बाधा क्या है तो प्रतिबंध की चर्चा होते है प्रतिबंध माने रुकावट अड़चन अड़चन को प्रतिबंध बोलते हैं हो पहुंचना तो चाहते थे पांच मिनट में और रास्ते में मोटर ही बिगड़ गई हैं और 25 मिनट लग गए एक बात सुनाई ये नहीं उठ के पूछना मत कि क्या महाराज आज रास्ते में आपकी मोटर खराब हो गई थी खराब नहीं हुई थी हाँ कई श्रोता हमारे वो होंगे जो ब्रह्म के बारे में आत्मा के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे पर ये मोटर के बारे में जरूर पूछ लेंगे कि क्या महाराज सचमुच खराब हो गई थी कि नहीं खराब नहीं हुई थी भाई ये प्रतिबंध बताया तो प्रतिबंध क्या होता है चार प्रकार का प्रतिबंध मानते हैं एक तो बुद्धि का मंद होना प्रज्ञावान दे उसको बोलते हैं बुद्धि का मंद होने का मतलब क्या है बुद्धि अपने आत्मा के ज्ञान के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है मैं हूँ इसके लिए भी प्रमाण की जरूरत नहीं है और फिर दूसरे को थोड़े सिद्ध करना है मैं तो हूँ ही हूँ ऐसा अनुभव होता ही है मैं जानता हूँ ये भी सिद्ध करने की तो जरूरत नहीं है प्रमाण की जरूरत नहीं है अच्छा मैं अपने से प्यार करता हूँ ये भी सिद्ध ही है तो प्रमाण जो होता है वो अज्ञात के ज्ञापन के लिए होता है जो चीज मालूम न पड़ती हो उसको मालूम कराने के लिए प्रमाण होता है और ये तो अपने आप ही मालूम करता है कि मैं हूँ और मैं जानता हूँ और मैं अपना प्रिय हूँ ये तो अपने आप ही मालूम है इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है तो प्रमाण से अगर ये बात मालूम कराई गई तो पिष्ट पोषण हुआ पिष्ट पेषण पिष्ट पेषण बोलते हैं और पिसे हुए को पीसना प्रमाण ये बात नहीं मालूम कराता ये तो प्रमाण की प्रवृत्ति होने के पूर्व ही आंख से हमने किसी को देखा नहीं आंख बंद है और मैं हूँ कान में छेपी लगी है और मैं हूँ जी बंद है और मैं हूँ नाक बंद है और मैं हूँ मन बंद है और मैं हूँ और बुद्धि बंद है और मैं हूँ तो इसके लिए तो प्रमाण की जरूरत नहीं है तो बोले अच्छा प्रमाण के फिर ब्रह्म को जानने के लिए प्रमाण की जरूरत होगी तो बोले मैं ब्रह्म हूँ ये जानने के लिए प्रमाण की जरूरत होगी बुद्धि को कहना यही है कि मैं को जानने के लिए जो हृदय में सबसे अंतरंग है उसको जानने के लिए भी प्रमाण की जरूरत नहीं है और जो सृष्टि में देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सर्वाधिष्ठान है, उसको जानने में किसी प्रमाण की गति ही नहीं है न से देख सके न मन से सोच सके है ना न बुद्धि से समझ सके न दृष्टा बन करके उसको देख सके न तंत्र से तिष्ठति रूप तो संपूर्ण प्रमाण का प्रतिषेध कर दिया आत्मा के लिए प्रमाण का प्रयोजन नहीं है प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और अनंत ब्रह्म में प्रमाण की गति नहीं है प्रमाण का विषय आत्मा भी है और प्रमाण का विषय ब्रह्म भी है तो इस अविषयता में जो निर्विशेषता है प्रमाण का विषय न होने से निर्विशेष होगा क्योंकि विशेष होता तो विशेष प्रमाण का विषय होता आत्मा से संपूर्ण विशेषों का निराकरण कर दिया और संपूर्ण जगत के अधिष्ठान ब्रह्म से भी संपूर्ण परिच्छिन्न विशेषों का परिच्छेदों का भेदों का निषेध कर दिया है और निर्विशेष निर्विशेष में भेद है इसमें कोई प्रमाण नहीं है निर्विशेष दो नहीं होते जब दो होंगे तो कुछ न कुछ विशेषता को लेकर के दो होंगे निर्विशेष ब्रह्म और निर्विशेष स्व विशेष माने भेद हो विशेष माने भेद कोई न कोई भेदक वहाँ भी अनंत में भी कोई भेद का हेतु नहीं है और अपने स्वरूप में भी कोई भेद का हेतु नहीं है तो जहाँ भेद का हेतु नहीं है वहाँ पदार्थ दो नहीं हो सकता वहाँ पदार्थ एक ही होगा इसलिए सहित निर्विशेष चैतन्य और सृष्टि के कारण भूत माया से उपहित निर्विशेष चैतन्य इन दोनों में भेद करने का कोई हेतु नहीं है देहावच्छिन्न आकाश और गृहावच्छिन्न आकाश और सूर्य रस व्यवच्छिन्न आकाश ये आकाश आकाश ही है उसमें अवच्छेदक गत जो विशेषता है अलग करने वाले की जो विशेषता है वो उस वस्तु का स्पर्श नहीं करती है तो प्रज्ञा मान जाओ अपने आप को ब्रह्म न जानने में कारण क्या है बोले प्रज्ञा की मंदता बोले कुतर्क ये दूसरा बाल की खाल खींच रहे हैं जो बात कही जा रही है उसको तो समझने की कोशिश नहीं करते और अंत तो इधर उधर उड़ते हैं कुतर्क तो, तो बोले कि ये सब तो ठीक है लेकिन जो दूसरे संप्रदायों के आचार्य हैं उनके तो प्रज्ञा मंद भी नहीं है और वो तो कुतर्क भी नहीं करते हैं ही तर्क करते हैं बोले ठीक है परंतु उनको ये दुराग्रह हो गया है कि मैं तो जीव ही हूँ अपने जीवत्व का परित्याग करने के लिए जो निर्विशेष पने का ज्ञान है उसमें उनकी रुचि नहीं है विपर्य दुराग्रह विपर्य में माने अपने ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान से मैं ब्रह्म हूँ इस निश्चय के अभाव से अपने जीव होने का जो विपर्य है उस विपर्जय में अविचार सिद्ध कोई कहे कि मैं ब्रह्म हूँ ये सिद्ध नहीं होता विचार से हम कहेंगे मैं जीव होता हो, हूँ ये भी तो विचार से सिद्ध नहीं होता है, है? तो जब विचार से मैं जीव हूँ ये सिद्ध नहीं होता है और विचार से मैं ब्रह्म हूँ ये भी सिद्ध नहीं होता है, है? तो तत्वमसी हम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य हैं उनकी प्रमाणता से अपने ब्रह्मत्व को प्रबल क्यों नहीं मानते जीवत्व तो भी सिद्ध नहीं और ब्रह्मत्व तो भी सिद्ध नहीं मान लिया है? बोले नहीं नहीं हम तो अपने को जीव ही मानेंगे बोले दुराग्रह हो गया यदि तुम अपने को जीव नहीं मानते तो अपने को ब्रह्म मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और तो ब्रह्म अपने को स्वीकार करना जीवत्व तो भ्रांति के निरसन के लिए है जहाँ जीवत्व तो की भ्रांति नहीं है वहाँ ब्रह्मत्व तो बोध भी अपेक्षित नहीं है लो और चौथा कारण क्या है विषया शक्ति प्रज्ञा की मंदता कुतर्क तो और विपर्जय में अपने जीवत्व में अपने जीवत्व में कई का ब्राह्मण था उसको वैराग्य तो बहुत था वो सन्यासी होना चाहता था लेकिन जो सन्यासी होने गया तो गुरु जी ने कहा कि सात घर से भिक्षा मांग के रोज खाना तो उसने कहा महाराज हम तो चौके में जो रसोई बनती है कपड़ा उतार के पांव धो के है और बड़ी पवित्रता से खाते हैं सात घर से भिक्षा मांगने जाएंगे तो हमारा चौका टूट जाएगा बोले कह रहे भाई सन्यासी के लिए चौका नहीं होता तो बोले महाराज बिना चौके के तो हम खा नहीं सकते इसलिए सन्यासी नहीं होंगे विपर्य दुराग्रह विषया शक्ति विषय से इतनी आसक्ति है कि उसको छोड़ नहीं सकते विषयाशक्ति और देहाशक्ति ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं वो तो प्रतिबंध देखो प्रमेय में माने आत्मा और ब्रह्म एक है इसमें भी शंका नहीं है और उसके लिए वेद के अतिरिक्त वेदांत के अतिरिक्त उपनिषद के अतिरिक्त और कोई प्रमाण हो नहीं सकता है ना यदि ब्रह्म और आत्मा का भेद यंत्र से सिद्ध होता यंत्र ब्रह्म को देख ले और ब्रह्म यंत्र आत्मा को देख ले और फिर कहें कि दोनों अलग अलग हैं तब हम यंत्र से ये सिद्ध करेंगे कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं जब यंत्र से न ब्रह्म देखा गया न आत्मा देखा गया माने साइंस से न आत्मा देखा गया न ब्रह्म देखा गया तब जब साइंस से दोनों देखे नहीं गए दोनों का भेद देखा नहीं गया तो दोनों की एकता सिद्ध करने के लिए या दोनों का भेद काटने के लिए साइंस की जरूरत कहाँ है यदि साइंस से दोनों सिद्ध होते और साइंस से दोनों का भेद सिद्ध होता तब न साइंस से दोनों को काटने की जरूरत होती ये तो आत्मा का जीवत्व और ब्रह्म का ईश्वरत्व ये दोनों शास्त्रीय गम्य है इसलिए दोनों की निवृत्ति भी शास्त्रीय गम्य है जो जिस प्रमाण से सिद्ध होता है वो उसी प्रमाण से कटता है हाँ। हमारे एक महात्मा थे उनके पास गए तो जय दयाल जी तो शेख जयदयाल जी ऐसे प्रतिपादन करते थे कि कर्म से ज्ञान हो जाता है ऐसे बोलते थे अब वो उनकी युक्ति क्या थी वो बात क्या थी वो अलग तो महात्मा ने पूछा कि कर्म कौन सा प्रमाण है प्रत्यक्ष के अंतर्गत है कि अनुमान में कि अस्थि में कि अनुपलब्धि में है, कि शब्द में शास्त्र वचन आखिर कर्म कौन सा प्रमाण है जैसे रूप आंख से दिखता है ना तो रूप के होने में लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा का भेद करने में आंख प्रमाण है ऐसे कर्म क्या कोई दृष्टि है कि उससे ब्रह्म या आत्मा दिखता है यदि कर्म दृष्टि नहीं है प्रमाण नहीं है तो कर्म से ब्रह्म कैसे जाना जाएगा ज्ञान कैसे होगा तो शेख जयदयाल जी ने दो चार श्लोक बोल के सुना दिए हाँ। कर्मण वही संसिध्यम आस्थिता जनकादय दो चार श्लोक बोल रहे महात्मा ने कहा कि देखो भाई जब हम कोई बात श्लोक बोल करके सिद्ध करें एक श्लोक बोले हम तो दूसरा श्लोक बोलो तुम श्लोक को श्लोक काटेगा और जब हम दें जुक्ति तो तुम दो जुक्ति जुक्ति को जुक्ति काटेगी यदि हम साइंस से जीव को अलग सिद्ध करें ईश्वर को अलग सिद्ध करें तब तुम और गंभीर साइंस का प्रमाण उपस्थित करके है ना जीव के अलगाव को काटो जीव और ईश्वर के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साइंस की विज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो ये तो वाक्य प्रमाण से ही जीवत्व सिद्ध है वाक्य प्रमाण से ही ईश्वरत्व सिद्ध है वाक्य प्रमाण से ही है ना आ, स्वर्ग नरक में आना जाना सिद्ध है वाक्य प्रमाण से ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व सिद्ध है इसलिए वाक्य प्रमाण से तुमने अपने जीवत्व को माना है और आम ब्रह्मात्मी तत्व मत्स्यादि महावाक्य ही कहते हैं कि तुम जीव नहीं हो ब्रह्म हो तो वाक्य से वाक्य कट गया एकत्व तो प्रतिपादक वाक्य जो है निषेध प्रतिपादक जो वाक्य है वो बलवान होता है एक ने भेद का विधान किया एक ने भेद का निषेध किया तो भेद का विधान बच्चे के लिए है और अभेद का विधान बुद्धिमान के लिए है योग्य अधिकारी के लिए है तो बात तो केवल प्रज्ञा मान्य कुतर्क विपर्य में दुराग्रह और विषया शक्ति ये चारों प्रतिबंध ये चारों प्रकार की अड़चन अगर नहीं हो तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान का उदय हो जाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है कहा तुमने अपने को जीव जांच के जीव देश के जांच पड़ताल करके अपने को जीव माना है अरे अपने स्वरूप के अज्ञान में ही अपने को जीव माना है तो इसके लिए मंत्र पर्याप्त है अब बात ये आई कि भाई यदि हो गई मान लो प्रतिबंध है ही है तो क्या किया जाए तो स्थित गतित जब कोई आके सिर पड़े तो उसकी कोई संगति कोई संगति लगानी पड़ती है बनारस में हम लोग होते हैं खाना पीना हो गया है? घर में जो दाल रोटी बनी थी वो खत्म हो गई अब आ गया मेहमान बोल भाई जब क्या करें अरे भाई ये तो एक दो बजे आया अब घर में रोटी तो है नहीं क्या खिलावे बोले स्थित से गतिश नहीं अब मेहमान आ गया तो इसका सत्कार तो करना ही पड़ेगा तो बोले मंगाओ कचौरी गली से कचौरी है ना <laughs> कचौरी खिला दो ऐसे तो <clears throat> अब जब प्रतिबंध सिर पड़ा तो उसकी सदगति लगानी पड़ेगी मानो उस प्रतिबंध को निवृत्त करना पड़ेगा तो हम भाष्य की बात आपको जरा पीछे सुनाएंगे पहले मंत्र में से ही कोई बात सुनाते हैं हृदा मनीषा मनसा भी कृप्तो यो अमृता से भवंती ये कहते हैं हरदा पहली बात है हरदा अपने आप को स्वयं जानो स्वयं च तत्व स्वयमेव बुद्धम तुम स्वयं तत्व हो स्वयं अपने को जानो शुद्ध अंतकरण जो महात्मा है ये आपको एक बात और बता देते हैं अशुद्ध अंतकरण की पहचान क्या है और अपने लिए कोई जाली न समझ बैठे हो है ना आत्मा और ब्रह्म की सिद्ध एकता जो है माने पहले से मौजूद एकता ये कोई साधन साध्य नहीं है कर्म से नहीं होते उपासना से नहीं होते योग से नहीं होते ये प्रमाण इसके लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की जरूरत नहीं है तो ये जो आत्मा और ब्रह्म की सिद्ध एकता है इसकी जिज्ञासा न होना ही अंतकरण की अशुद्धि का लक्षण है इसको जानने की इच्छा न होना इच्छाएं तो होती हैं तुम्हारे मन में खाने की होती है पीने की होती है चलने की होती है रिश्तेदार की होती है नातेदार की होती है इच्छाएं तो हजार होती हैं लेकिन जब तक परमात्मा और आत्मा की एकता के ज्ञान की इच्छा नहीं होती तब तक समझना कि विषय की इच्छा कहीं न कहीं हृदय में बैठी हुई है यदि इच्छा हो जाए तो मात्रेण शुद्ध बुद्धिर्निराकुल एक बार कह दिया अरे तू जीव नहीं है रे ब्रह्म है परिपूर्ण है तू देश काल वस्तु का साक्षी देश काल वस्तु का अधिष्ठान है तेरे अंदर संपूर्ण दृश्य अभ्यस्त तू अद्वितीय है मामला खत्म एक बार घोड़े के रिकाब में पाव और तत्व तो ज्ञान तो है आपने कथा कई बार सुनी होगी तो राजा जनक घोड़े पर चढ़ने लगे और अष्टावक्र ने जो बात बोली ये नहीं वाली नहीं हो गया बात खत्म हो गई ये श्रद्धा की बात नहीं है लेकिन प्रमा में संशय यथार्थ ज्ञान यही है कि आत्मा और ब्रह्म एक और इसमें प्रमाण है वेद वेद के सिवाय दूसरा प्रमाण नहीं ये निश्चय होने पर भी जो स्थिति नहीं होती दृढ़ता नहीं आती इसके लिए फिर क्या करना चाहिए हृदय मनीषा मनसा विकल्प तो पहुंच जाओ वहाँ जहाँ हृदय है के वैष्णव लोग जिसको हरि कहते हैं ना हरि और सही लोग जिसको हार बोलते हैं और मुसलमान लोग जिसको रहीम बोलते हैं वो और शाक्त लोग जिसको हरीम बोलते हैं बिल्कुल वही चीज ये हृत है हरती इतिहास हरी हरण है हरति हरति का अर्थ है कि चाहे शब्द सुनाई पड़े चाहे स्पर्श सुनाई पड़े चाहे ज्ञान सबका संस्कार यही लेता है हरस सबको मिटाता यही सबको पकड़ता यही है सबको छोड़ता यही है जो सबको पकड़ने वाला और सबको छोड़ने छोड़ने वाला एक तो हृत माने होता है हृदय और एक हृत माने होता है आत्मा तो रमण महर्षि जो है वो हृत शब्द का अर्थ आत्मा मानते हैं हृदय हृदाख्या पहला श्लोक उनका जो है ना पहला श्लोक हाँ, पहला श्लोक जो सब दर्शन का है उस उस श्लोक में आया हृदय हृदाख्या हृदय में वो हृत नाम वाला है हृत परमात्मा का नाम है हृत उसके सामने जाने पर सबकी सत्ता छिन जाती है उसके सिवाय दूसरी वस्तु की सत्ता ही नहीं होती उसी से सब सिद्ध होते हैं उसी से मालूम पड़ते हैं उसी से प्यारे लगते हैं उसी में दिखते हैं और उसमें है ही नहीं ये है हृदय का हृदय हृदय का स्वयं स्वयं अपने आप को अपने आप देखो स्वयं से तत्व स्वयं वो होता अपने आप को देखने के लिए पड़ोसी को मत बुलाओ ए जरा बताओ तो आज हमारी आंख कैसी लगती है भगवान है ना कैसा अपने आप को देखने के लिए शीशे का भी प्रयोग मत करो तुम स्वयं हो एक बार एक बार कहीं चर्चा आई तो हमेर ने एक महात्मा से पूछा कि आप ये बताइए कि हम जैसे हैं वैसे ही आपको प्यारे लगते हैं हैं कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो जाए तब प्यारे लगेंगे हम मूछ बनवा के आवे दाढ़ी बनवा के तब हमसे आप प्यार करेंगे कि दाढ़ी मूछ जैसी हमारी बढ़ी हुई है है ना उसमें आपका प्यार है एक बात हम जैसे हैं वैसे ही आपके प्यारे हैं कि हमारे अंदर से अमुक अमुक दोष दूर हो जाए और अमुक अमुक गुण आ जाए तब आप प्यार करोगे हाँ। एक महात्मा से मैंने पूछा एक प्रश्न बताता हूँ कि दुनिया में क्या क्या फेर बदल हो जाए तो आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी बोले कि बाबा है ना या तो ये कहना पड़ेगा कि जैसी है वैसी अच्छी लगती है और या तो या कहना पड़ेगा ये कहना पड़ेगा कि कितनी भी फेर बदल हो जाए कितना भी फेर बदल हो जाए ये हमको कभी पसंद नहीं आएगी दो के सिवाय तीसरा इसका जवाब नहीं है और ये जो लोग अर्धम उर्धम में रहते हैं ना इतना सुधार हो जाए इतना सुधार हो जाए इतना सुधार हो जाए है ना वो कर्ता कर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं या तो दुनिया जैसी है वैसी हमारा स्वरूप परमात्मा है या तो दुनिया अनात्मा है दृश्य है परिवर्तनशील है इसमें तो हे फेर बदल होती रहेगी तो इसमें अपने चित्त को क्यों पढ़ाना तो हृदय का अर्थ है कि जो प्रवर्तनशील और परिवर्तनशील जिसमें प्रवृत्ति हो रही है और जिसमें परिवृत्ति हो रही है प्रवृत्ति होना हमारे नई चीज का पैदा होना आत्मनि पुष्यति आत्मनिवात्मनात्मान पश्यन् आत्मनि पुष्यति जत्र शैवात्मनात्मानम् पश्यन् आत्मनि तुष्यति आत्मना आत्मनि आत्मान पश्यन तुष्यति किसको देख रहे हैं बोले अपने को का किससे देख रहे हैं का अपने से है? अपने से किसको देख रहे हैं का अपने को किससे देख रहे हैं का अपने से कहा देख रहे हैं का अपने में दृष्टि का देखने वाला भी खुद देखने का औजार भी खुद और जो देखा जाता है तो भी खुद और जिसमें देखा जाता है सो भी कुछ आत्मनि एव आत्मना एव आत्मान एव अपने में अपने आप से अपने आप को देख रहे हैं हृदय इसका अर्थ है हृदय कोई नहीं कुछ नहीं महावाक्य के नहीं इतने प्रयत्न से वेदांत की महावाक्य की सिद्धि करते हैं जहाँ अनात्म दर्शन नहीं है जहाँ अपने सिवाय कुछ है ही नहीं वहाँ माँ बाप माँ बाप के क्या करेगा काटो महाभाग को लहरदा का अर्थ है आत्मनिव आत्मान पशे अपने आप में अपने आप को देखो दूसरे को अगर देखोगे तो उसको काटना पड़ेगा तब काटने के लिए औजार की जरूरत पड़ेगी वृत्ति बनानी पड़ेगी अज्ञान कहाँ है अज्ञान ब्रह्म में है कि आत्मा में है अज्ञान न ब्रह्म में न है न आत्मा में है जो अपने में अज्ञान मानता है उसी में है अज्ञान कहीं नहीं है वो हाँ, ये आप वेदांत का बम गोला समझो बोला अज्ञान कहीं नहीं है न ब्रह्म में है न आत्मा में है न जगत में है न मैं में है न तुम में है कहीं अज्ञान नहीं है जो अपने में अज्ञान मानता है माने अपने को है ना अज्ञान वाला मान करके बैठा है उसी में अज्ञान है और अज्ञान कहीं नहीं होता और अज्ञान की निवृत्ति भी अपेक्षित नहीं है यदि तुमको मालूम पड़ता है कि अज्ञान है तो उसकी निवृत्ति के लिए वृत्ति की जरूरत है वृत्ति ज्ञान की जरूरत है और यदि अज्ञान नहीं मालूम पड़ता ये तो बुद्धि में भ्रम है ब्रह्म में अज्ञान नहीं है आत्मा में अज्ञान नहीं है ईश्वर में अज्ञान नहीं है है ना ये जो हम ठीक ठीक नहीं समझते हैं इसी का नाम अज्ञान है अभ्यास ही अज्ञान का लिंग है भ्रम ही अज्ञान का लिंग है तो हृदय आत्मनिव आत्मान पश्चेत अपने आप में अपने आप को देखो बोले अपने आप में भी जो दिखता है सो विवर्त ही है सो प्रतीति ही है वो तुम्हारे प्रतीति माने तुम्हारे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है तुम ही हो बोले भाई बात तो ये सुनने में तो बड़ी आसान है स्वयं के तत्व स्वयं एवं बुद्धाम बुद्ध लोग आत्मा के की मुक्ति के लिए वृत्ति की ही अपेक्षा नहीं रखते हैं स्मरण हो कि कल्पना हो कि प्रमाण वृत्ति हो सोच नहीं अच्छा भाई ये छोड़ो अब दूसरे नंबर की बात करो वे मनीषा इस श्रवण से यदि तुमने अपने को मुक्त नहीं जाना तो इसमें दो कमी है एक तो दृष्टि में स्वच्छता नहीं है इसलिए नहीं मालूम पड़ता और दूसरी बात यह है कि अगर दृष्टि में अपनी स्वच्छता न भी होए पर दूसरे की दृष्टि की स्वच्छता पर श्रद्धा होए तो भी काम बने तो वो भी नहीं है तब बोले आओ बुद्धि से विचार करो नेत नेति के द्वारा निषेध करो और ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ एक कल परसों एक सज्जन ने पूछा ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या है तो हमको एक पुरानी बात याद आ गई हमने तपोवन स्वामी से ये स्वामी चिन्मयानंद जी है ना चिन्मयानंद जी महाराज जिनका व्याख्यान होता इनके गुरु तपोवन स्वामी उत्तर काशी में रहते थे तो पहली बार जब गया था उत्तर काशी माने सन अड़तालीस के करीब को प्राय स्वामी तपोवन जी से एक महीने तक मिलना जुलना रोज रहा तो उनसे मैंने पूछा कि ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या है तो हंस गए बोले कि देखो घटक घटक ज्ञान ही घटाकार वृत्ति है घटक ज्ञान घड़े को प्रमाण का विषय बना लिया जान गए कि घड़ा है ये घड़ा है तो ये घड़े का ज्ञान ही घड़े को जानना ही घटाकार वृत्ति है इसमें कोई घट की कल्पना का नाम घटाकार वृत्ति नहीं है घट की स्मृति का नाम घटाकार वृत्ति नहीं है प्रमाण और प्रमेय का निर्दोष सन्निकर्ष निर्दोष आंख से निर्दोष घड़े को देख लिया घड़े का ज्ञान हुआ इसी का नाम घटाकार वृत्ति है तो ब्रह्माकार वृत्ति क्या है बोले ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्माकार वृत्ति है वो दोहराने के लिए नहीं होती है वो बहुत दिनों के अभ्यास से नहीं होती है मनीषा हाँ, मनीषा मनीषा होती है तो ये मनीषा शब्द दो तरह का है वो एक मनीषा शब्द आकारांत है वो तो बुद्धि का वाचक होता है और एक मनीट मनीत शब्द हलंत है चकारान उसका भी तृतीया विभक्ति में मनीषा शब्द बनता है तो <clears throat> मनीषा का अर्थ है बुद्धिया देखो ये जो औजार तुम्हारे काम नहीं आते हैं अनंत को जानने में ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कुछ दिखाई पड़ रहा है इसको तो देखने में क्या तुम्हारी आँख समर्थ है इसका और शोर पा सकती है कि नहीं पा सकते कच्चा सृष्टि का आदि अंत देखने में तुम्हारी है ना आँख समर्थ है कि नहीं समर्थ है तो वस्तु के भीतरी चीज को देखने में आँख समर्थ है कि नहीं समर्थ है तो जब भीतर भी नहीं देख सकती और छोर भी नहीं देख सकती और शुरू अंत भी नहीं देख सकती तो इस चश्मे का काम नहीं है है ना इंद्रियों के चश्मे को उतार करके रख दो इंद्रियों की खोल जहाँ की तहा रहे ये तो खोली है वो खोली ये शरीर सहित इंद्रियों की खोली जहाँ की तहा रहने दो अब रहा मन तो मन मन ही मन संकल्प करने लगा ये स्वर्ग है ये एक नरक है ये देवता है ये दानव है ये मानव है तो अपनी मनीत बुद्धि से मनी राम की जो ईश्वर है जो उसको चलाती है मनांसी ईष्टे इति मनीष तया मनीषा तया मनीषा तृतीयांत रूप है मनीषा करे मन जब आंख से कान से नाक से जीभ से ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता तो तू इन्हीं के द्वारा देखे हुए पदार्थों के बारे में क्यों संकल्प करता है तू संस्कार से इतना आक्रांत हो गया है अब तक जो देखा है सुना है इन इंद्रियों के द्वारा उनका जो संस्कार है उसको छोड़ दे मनीषा मन में जो देखे सुने अनुभव किए हुए का संस्कार है जिनसे स्मृति होती है और जिन संस्कारों से आगे के लिए कल्पना होती है उन दोनों से अपनी बुद्धि को खाली कर दो नेति नेति इसी का नाम नेति नेति है नेति नेति के द्वारा तिरस्कार कर दो बुद्धि के द्वारा दृश्यमान परिच्छिता का भी तिरस्कार कर दो बुद्धि में जो मैं परिच्छिन्न हूँ ये जो वृत्ति है ना उसका भी तिरस्कार कर दो नारायण बुद्धिया मनीषा तो देखो नेति नेति महावाक्य के द्वारा नेति नेति ये आलम्बन और इस आलम्बन के द्वारा बुद्धि ने आत्मा अतिरिक्त संपूर्ण दृश्य का परिचिन का भोग्य का है ना कर्म का निषेध कर दिया अपरिच्छिन्न अकर्म अभोग्य अदृश्य अपना आपा है और अपने आपे में जो कुछ कर्म दृश्य परिच्छिन्न दिखता है वो ऊपर नीचे नहीं दिखता है बोला ये अपने आप को अनंत के रूप में जानना ही मनीषा है बुद्धि के द्वारा विचार करते अब तीसरा नंबर लो मनसा भी कृप्तो हृदय मन स्वयं और मनीषा बुद्धिया स्वयं जानो स्वयं न जान सको तो बुद्धि से विचार करके जानो और बुद्धि से विचार करके भी अगर न जान सको तो बुद्धि तो नोन लकड़ी के विचार में लग जाती है फिर ईश्वर के बारे में कहा जा है ना क्या सोचो बोले तो वो बहुत जरूरी है जरूरी तुम्हारे लिए आत्मज्ञान है कि जरूरी है ना पांच सौ साड़ी घर में अपने लिए रखना जरूरी है, है? कि अपने आप को जानना जरूरी है तो लो ना अरे पांच सौ साड़ी नहीं हो है ना पांच पीढ़ी के लिए इंतजाम करना जरूरी है पांच पीढ़ी के लिए कि अपने को ब्रह्म जानना जरूरी है तो लो अपने को कहा लगे हो है ना कहा लगे हो आज भोजन करके और कल के लिए फिक्रमंद हो और परमात्मा के ऊपर काला लिहा पढ़ा दिया है सोते रहो बाबा है ना उठना नहीं जगमगाना नहीं माया का पर्दा तो डाल दिया आत्मा पर परमात्मा पर और छह महीने क्या खाएंगे इसके लिए फिक्र कर रहे हैं मनसा मनसा का अर्थ है कि यदि बुद्धि भी तीक्ष्ण न हो यदि अपनी सपना स्वपना स्पष्ट हो तब तो हृदय और स्पष्टता न हो तो आ और बुद्धि भी न हो तब क्या करें तो फिर मन से काम लेना पड़ेगा तब भावना जो है ना चिन्हता मज्जता वा रमण महर्षि बोलते हैं ना ढूंढते हुए परमात्मा के पास पहुंचो खोजते हुए मध्यकाल के संत ने संतों ने तो और और स्थूल बात बताई है वो कहते हैं कि आंख बंद करने पर जो आवाज होती है ना सोचो आंख कान बंद करने पर जो आवाज होती है वो कहाँ से आती है उसको कहते हैं कि शब्द की डोर पर चढ़ करके सूरत जो है प्रीतम के पास पहुंचते हैं जैसे कोई कोठे पर रह रहा हो ना और उसका दरवाजा बंद हो तो पहले रस्सी डाल के लोग उस पर चढ़ जाते थे तो बोले ये शब्द की डोरी है और सूरत जो है अपने प्रीतम से मिलने के लिए शब्द की डोरी पर चढ़ करके वहाँ पहुँचती है जहाँ से शब्द आता है है ना अपने प्रीतम ने कोई खट खट पट पट कोई ऐसा इशारा कर दिया है ना कोई गीत गा दिया कहा हम इसी कमरे में हैं और सूरत जो है वो डोरी पकड़ के उससे मिलने के लिए उसके पास चढ़ गई तो मनसा भी क्लुप्ता मनसा भी क्लुप्ता का अर्थ है कि ये जितने संकल्प तुम्हारे मन में उठते हैं वो कहाँ से उठते हैं इनका मूल क्या है दिशा विदिशा का संकल्प पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का संकल्प दाएं बाएं का संकल्प सामने पीछे का संकल्प कहाँ से उठता है पहले और पीछे जो हो गया उसका संकल्प जो होने वाला है उसका संकल्प जो हो रहा है उसका संकल्प कहाँ उठता है है ना राम श्याम सोहन मोहन का संकल्प कहाँ उठता है मनसा भी क्लृप्तो ये संकल्प के उदय का जो स्थान है संकल्प के उदय का जो है ना संकल्प का जो मूल उपादान है संकल्प का जो अधिष्ठान है संकल्प का जो काल है संकल्प के काल से उपलक्षित संकल्प के स्थान से उपलक्षित उपलक्षित मान इशारा हाँ, और संकल्प के उपादान से उपलक्षित जो आत्म तत्व है ना आत्म तत्व मनसा मन से सोचो सो हम अस्मी मंत्र पढ़ रहे थे ना हाँ। दूसरा वसु आदित्य पुरुष सो हम अस्मी ये मनसा है मन से ये कैसा है जैसे मूर्ति की पूजा करने वाले सनातन धर्मी सत्पुरुष इदम को ब्रह्म कहते हैं ना इदम को ये मूर्ति ब्रह्म है ये शिवलिंग ब्रह्म है ये कृष्ण मूर्ति ब्रह्म है है ना तो जैसे ब्रह्म भावना करते हैं मूर्ति में इदम में वैसे अहम में ब्रह्म भावना करो मन के द्वारा मन के द्वारा अहम में ब्रह्म भावना करना मन है और नेति नेति के द्वारा सबका निषेध कर देना बुद्धिया है है ना और स्वयं जैसे हो उसमें स्पष्टता आ जाना वेदांत स्वयं तत्व स्वयं बुद्धम हृदय है और असल में देखो तो सब की सब अभिकृति है अभिकृति अभिकृति बड़ी व्याख्या है वो कहते हैं कि सच्ची चीज हो तो सच्ची चीज सीमित है और तुम्हारा भोगकर्तापना पापी और पुण्यात्मा होना ये भी कलृप्त है कल्पित है एक लकीर है मन की लकीर है तुम्हारा भोगता होना सुखी दुखी होना ये मन की एक लकीर है तुम्हारा नारकी स्वर्गीय होना ये मन की एक लकीर है तुम्हारा परिच्छिन्न होना मन की एक लकीर है तो चाहे मन से उस लकीर की कल्पना को मिटाओ चाहे बुद्धि से जांच पड़ताल करके मिटाओ और चाहे स्वयं में स्वयं स्थित होकर के स्व में स्वयं स्थित होकर के मिटाओ इस अभिकृप्ति को इस कल्पित रेखा को आप सुनते हैं आप जानते हैं ना पाकिस्तान का भी एक आकाश होता है और हिंदुस्तान का भी एक आकाश होता है मालूम है कि नहीं पाकिस्तान के आकाश में अगर हिंदुस्तान के जहाज जाएं तो मरिया सीमा का उल्लंघन हुआ वो मार के गिरा देगा और पाकिस्तान के जहाज हिंदुस्तान के आकाश में आवे तो ये भी मार के गिरा सकता है एक बात हुई ना है तो ये आकाश में जो लकीर खींची हुई है कि इसके इसके इधर हिंदुस्तान और उधर पाकिस्तान ये क्या है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की मर्यादा सीमा मन से कल्पित की गई है कि नहीं तो मन से कल्पित की गई है इसी प्रकार एक ही निर्विशेष दृंग मात्र चैतन्य आत्मा सबके शरीर में है उसमें मर्यादा तो अपनी बुद्धि अपने मन अपने सुख अपने स्वार्थ अपने संस्कार के अनुसार बनाए गए हैं हाँ, इस कल्पना को कल्पना से काट दो मनसा भी विकलुप्त हो और ये सारे भेदों का मूल कल्पना है और इस कल्पना का अधिष्ठान जो आत्मा है सो ब्रह्म है जो एक विदु अमृता से भवंती जो इसको जानते हैं हाँ, ते पूर्वम अपनी अमृता भवंती पश्चादपि अमृता भवंती है ना वो पहले भी अमृत ही होते हैं बाद में भी अमृत ही होते हैं और वर्तमान में भी अमृत ही है मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकते अब ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त हो इसका विकास आगे बताते हैं